और इसी तरह हमने उन्हें उठाया ताकि वो आपस में एक दूसरे से पूछ गछ करें उनमें से एक कहने वाले ने कहा कितनी देर रहे हो तुम उन्होंने कहा हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहे हैं वो बोले कि तुम्हारा रब ही ज्यादा जानता है कि तुम कितनी देर रहे हो चुनाचे अपने में से किसी एक को अपने ये चांदी के सिक्के देकर शहर भेजें बस चाहिए कि वो देखे कि ज्यादा साफ सुथरा खाना कहाँ है फिर उसी में से कुछ तुम्हारे खाने को लाए और वो नरमी और बारीक पीने की कोशिश करे और तुम्हारे मुतल किसी को हर किस नामालूम होने दे